चौदवे ए अब्र आलूद खुदा की जहर आलूदगी और अब की सारी आंखें और जो कुछ अब के पीछे है